सभी आपने आत्मनिरीक्षण के पश्चात इस दान के संबंध में सुना है और जिस किसी को कोई संदेह कभी हो तो हमसे पूछ सकता है कि हम जो कार्य करते हैं उसमें दान आता है हम वो कैसे कहां पर खर्च करते हैं याद रहे कभी आज की परंपरा में ऐसा लोग सोचना आरंभ कर देते हैं कई बार ये लोग लेते तो हैं किसी से इसके नाम से खा जाते हैं अपने आप हम तो अपनी ओर से देते हैं खाते हैं क्या समझा हम खाते नहीं बल्कि देते तो और लोगों की बातें हम असत्य का प्रयोग नहीं करते त्रुटि होगी तो मान लेंगे और नहीं तो जैसी किसी की बात बताएंगे आपको जो है चाहे वो लाख की बात हो चाहे करोड़ की बात हो चाहे अरबों की नहीं क्यों नहीं हो हम ऐसा नहीं कहेंगे इसलिए संदेह रही करिए कई बार जो भ्रांतियां जो उभर के आती है जो विरोधी होते हैं स्वार्थी लोग उनका उत्तर आप जल्दी दे सकेंगे नहीं तो कभी भ्रांति ऐसी पैदा कर देते हैं लोग समाज का काम रुक जाता है एक बार की घटना है पूर्वी दादी बहन यहां बैठी है ब्रह्मचारी हमें न्यास के लिए विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास के लिए एक लाख रुपए घोषित किया कि मैं एक लाख लाख रुपए दूं उस की खोज के लिए अहमदाबाद वाले कमलेश कुमार जी ने वहां भेजा गुप्त सर इनको को मिला रही नितिन की सुनाई सुना रहा हूं देखो स्वामी जी एक ऋषि किसी कटवाते वहां ले जाते हैं ईंधन को गुप्तर के रूप में तुमने कुमार अग्निहोत्री जिसको कहते हैं उसने वहां भेजा इन्होंने कहा कि ये कौन व्यक्ति है मुझे पूछ रहा है कि किसके लिए ऋषि कटाओगे किसके नाम से कटेगी तो मैंने इसलिए सुनाया जो दुर्देव दिमाग के लोग होते हैं उनको उत्तर दे देना चाहिए और उनकी चालाकी को सुनकर कभी भ्रम नहीं पड़ना हमने किसी हम किसी से द्वेष नहीं करते और किसी की आक्रमण करेगा तो उसको रोकेंगे नहीं तो अगर मारने का देगा तो उसको रोकना ही चाहिए ये तो आप ही मानते हैं ना हमें योगाभ्यासी है आदर्शवादी है पर जो अपने देश जाति को बिगाड़ेगा उसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे नियमों बने नियम के विरुद्ध नहीं इससे सावधान रहना चाहिए जो महान कार्य होते हैं परोपकार के लिए होते हैं इसीलिए लिखा है स्वार्थी लोग वहां आवश्य ही रोड़ा डालते हैं इसलिए ये स्वार्थी और अज्ञानी लोग ऐसा ही करते हैं उत्तम कामों को नहीं होने देते पर हम भी सावधान रहेंगे संगठित रहेंगे तो वो ईश्वर बाधा नहीं डाल पाएंगे तो इसलिए इन विषयों में जो भी बात आपके सामने आए हमसे सीधे मिलो न कि दूसरे की सुनते ही मान लो इसको सावधान देना है अब हमें प्रारंभ करते हैं ईश्वर की उनकी मंत्र के माध्यम से अथवा ये कहना चाहिए या नहीं कि मैंने ईश्वर को जान लिया है ये चर्चा बहुत चलती है और इसके अंतर्गत लेख भी लिखे जाते हैं उपदेश भी दिए जाते हैं और एक पक्ष का एक खंडन करता है इसका कि ब्रह्म देवता जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है और ये बात आगे बढ़ी कि जो ये कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया वो झूठा है वो बिल्कुल नहीं जानता और जो ये कहता है मैंने ब्रह्म को जाना बिल्कुल नहीं मैं कुछ नहीं समझता वो जरूर जानता यहां पर व्याख्या बढ़ गई अब लोगों का बात ठीक है आपका क्या मत है <laughs> <laughs> एक मैंने ये चर्चा मेरे सामने बहुत की है और मुझे पूछ भी सीधा लेते हैं और मैं जैसा डालता वाला उत्तर देता हूं धरती उतर पुतल हो जाए जब भी वही उत्तर दूंगा और लोग कहते ये क्या कहते हैं आप एक हमारे थे उपदेशक थे अब भी होंगे पता नहीं मरे होंगे तो उनका नाम क्या था अखिलेश का है क्या अखिलेश का अगर हाँ, तो जी नहीं अगर हाँ, शादी करा के मरे होंगे हाँ सब तो, तो वो जो है वो कहने लगे आपसे जो लोग पूछते हैं ईश्वर के विषय में और आप सीधा कह देते हैं कि हाँ ईश्वर जो है मैंने जाना है ये उचित नहीं है मैंने कहा और क्या कहिए भाई और बताओ क्या है आप ये बताओ कहते कि उनसे बच जाया करो न बताया करो कैसे न बताए ये ब्रह्मचारी पढ़ेंगे दर्शन ये ब्रह्मचारी सारी बात पूछते हैं खुले रूप में उसमें हम क्या उत्तर देंगे क्या ये कहेंगे हम नहीं बताते या टाल मोटोल करेंगे या झूठ बोलेंगे बताओ क्या करें हाँ जी मैंने कहा आपने तो ब्रह्मचारी पढ़ाने ना शंका समाधान उसने मैंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं आपको हमारे सामने सीधे प्रश्न आते हैं सीधे प्रश्न में आने को बचा नहीं जा सकता न समाज का काम ही डंडा छेड़ के न विज्ञापन आके केवल अवतारवाद को खड़ा करके घूम रहे और सुझाव देते हैं ये वो मतलब झूठ तो स्वयं बोलते ही बोलते हमको भी झूठ बोलना चाहिए हम इससे सभी बिल्कुल नहीं करते ये अलग विषय है मैं अगर हूं मुझे भ्रांति हो गई हो पर मेरा दिमाग जो काम करता वही तो उत्तर दूंगा मैं क्या सर जी बोलो ये अलग विषय है मैं भ्रांति से बोल रहा हूं ये मुझे ईश्वर का अनुभव होता है या साक्षात्कार होता है ये तो हो सकता है मुझे भ्रांत भी हो पर ये नहीं हो सकता कि मेरे ज्ञान में कुछ और और बताऊं कुछ हो ये नहीं हो सकता तो ये समस्या जब आती है तो लोग बड़ी प्रचार करते हैं और हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ब्रह्मचारी पढ़ते हैं उनके साथ बातचीत होती है वो कहते हैं आपके स्वामी जी तो कहते हैं उन्हें ईश्वर का अनुभव हो गया तो कहते स्वामी को जो पढ़ाया है वो कहते हाँ ये तो ठीक है आपत्ति क्या है वो तड़क उठाते हैं जिन ब्रह्मचारियों ने सावधानी से बड़ा उत्तर दे देते हैं उनको और वो उत्तर देना जो नहीं चाहते वो चुप रहे थे वो खंडन करते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है वो ये कह देता है मैं जानता हूं तो झूठा है और वो बिल्कुल चैनाली के वैसा मान परिवर्तन तो नहीं आया ना तो दिखाई देता है साक्षात कर दिया हाँ। बच्चे के साथ बैठ जाते हैं चौबीस घंटे हमने हम लाखों पति होते हुए देखो आपने नहीं सुनो ये नंबर छह इसको भी छेड़ेंगे ये बीच कहा गया है कि उसकी पहचान क्या अलग में क्या तो उसमें ये बातें आती हैं तो हमें इस बात को सिद्ध नहीं कर रहे मुझे आप ऐसा मान लो हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा बताया जा सकता हमारा विषय और नहीं है विषयांतर नहीं जाएंगे आप क्या समझे आप विषयांतर नहीं जाएंगे विषय हमारा ये है या ईश्वर को जान करके व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मैंने ईश्वर को जान लिया है और साक्षात्कार ये कह सकता है या नहीं बस ये विषय है हमारा मुख्य हमको क्या मानते हैं लोग ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं भगवान को भी नहीं मानते उनको क्या करें भगवान को ऐसा देखा हो तो माने के लिए तो नहीं मानते भगवान पैदा ही है तो अब सुनो इसी के ऊपर बहुत दिन पहले ये लेख लिखा गया था जो दयान संदेश पत्रिका उसके पीछे विशेषांक के योग मीमांसा और अब आपके सामने मंत्र है वेदांगेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस जानता हूं अहम का मैं सीधे शब्द थोड़ी सर से जानने वाला आप समझेगा वेद अहम मैं जानता हूं क्या एकदम पुरुषम कर्म द्वितीय विभूति एष एत एते आगे एतम द्वितीय का एक वजन है एतम पुरुषम महानतम इस महापुरुष को मैं जानता हूं ये भी बात है वेद हन एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम ये द्वितीय विभूति चल रही है चौसठ बरस का उसी को जान के मृत्यु आदि को ठहर जाता है न अन्य पंथा और कोई मार्ग नायक नहीं दिखते मुक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं वेद ने निर्णय दे दिया तो कौन इसका खंडन करेगा वेद का मानने वाला तो चुप रहेगा आर्य समाजी चुप रहेगा खंडन करो इसका जो ये कहते हैं ना ये कहना बुरा है ये कहना घमंड है ये कहना मिथ्या है खंडन करो इसका उनसे कहना है वेद ही कह राम क्या कहे वेद ही कहता है एक व्यक्ति ईश्वर को जान के कहे हे संसार के लोगों वेदा अंग्रेजम पुरुषम महात्म मैंने इस महापुरुष को जाना तुम भी जानो ये कह रहा है तो कहां दोष है वैज्ञानिक चंद्रमा पहुंच गए आके उसको धूरी भी दिखा दी क्या वो बताए या नहीं बताए हम चंद्रमा पहुंच गए और झूठे भी हो जाएंगे कहते हैं हम पहुंच गए बुरा लगेगा बुरा लगेगा वही की वैसी खोज सारी ऐसी है तो कोई मत बताओ क्या करो हमने चंद्रमा को देखा ही नहीं चंद्रमा को देख के आ गए फिर कहेंगे चंद्रमा को हमने बिल्कुल नहीं देखा भाई और सुनने वाले देखे भाई इन्होंने जरूर देखा <laughs> देश की बिना सरकार की बात करता है क्या दिमाग खराब हो रहा है और इसी गांव को देख के कितने गुंडम वाले क्या बोलते हैं भाषा उनकी सुनना हो जिज्ञासु हो मैं मूर्ख हूं मैं कुछ भी नहीं जानता और कहते गुरु जी जरूर जानते ये उन्होंने निकाला जो ये कह दे मंत्र कहते बेचन कुछ नहीं जानता पर ये महाविद्वान है ये कसोगे इतना वो ढोंग रह जाओ इन लोगों ने कि मैं ये कर दूंगा तो जरूर कहेंगे इंद्र बीमारी है ये बीमारी है ये तो जताना चाहता है ये क्या तो किसी पर उसको तो नहीं जानता ये ये जताना चाहता मैं जानता हूं ये बेकार की बात है ये वेद की बात अब नीचे देखो क्या क्या लिखा है उसमें देख लो क्या लिखा है परम परम वेद ये महान विद्वान ये कौन थे विप्लाद ऋषि के पास में प्रश्नोपनिषद में छह प्रश्न हैं और विद्वान कितने छह थे ना छह विद्वान प्रश्नों को लेके गए और एक एक का उत्तर देते गए अब अंत में कहते हैं हे विद्वानों मैंने उस भगवान को जान लिया है इससे फिर और कोई भगवान नहीं ये ये विकास कह रहे हैं आदिवासियों प्रश्नोपनिषद में छह प्रश्न उठाए गए हैं और इफलाक वो ब्रह्मवेत्ता एक एक शिष्य को वो भी बड़े विद्वान थे जो छह विद्वान गए थे उसमें से ये उत्तर दिया है मैं ब्रह्म को मैं जान चुका हूं और इससे भिन्न कोई और ब्रह्म नहीं है अब चलो निजी के बाद कथा उसमें देखो क्या लिखा है यमाचारी कहता है नित्य शरीर आदि कर उसे मैंने समाधि लगा लगा के नित्य ब्रह्म को मैंने प्राप्त कर लिया है ये ग्रह है अब से प्यार प्रकाश क्या कहोगे वहां हरी आनंद कैसे होगा पहले वेद मंत्र सन्न मित्र संवरुण सन्न भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्न विष्णु रुद्रमय नमस्ते नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि तू प्रत्यक्ष कर रहा है तो प्रत्यक्ष ब्रह्म अब बताओ क्या करोगे सज्जा के और ये यहां पाठ किया फिर सिद्धार्थ पूरा हो गया वहां यही पाठ किया तो प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी त्वाम एवं प्रत्यक्ष ब्रह्म का वाजी सुन तो प्रत्यक्ष ब्रह्म को ही मैंने सिद्धार्थ प्रकाश में कहा जो न पढ़ते न जानते न पहचानते छली कपटी झूठे लोग केवल ये कुचेष्टा करते हैं कि सच्चाई को कैसे दबाए इनकी शैली सुनो ये हम सत्य बोलते हैं ये शास्त्र आपके लिए तैयार हो जाते तुमको तो व्यवहार नहीं आता ध्यान में क्यों क्योंकि सदा से बोलते हो बड़ी कठिनाई है अंक आप कि मैं तो झूठ बोलता हूं अच्छा अब तो झूठ बड़े लाभ होते मैंने कहा हम नहीं करेंगे अब वही व्यक्ति अपना वो पैकड़ा बदल के कहता है ये लोग बिल्कुल झूठे उतरता है अब इसका उल्टा वो ये चाल चली दूसरे ढंग से और अब ये दूसरा पंद्रह बदला के ये लोग सारे झूठे अपने व्यक्ति तू ही तो कह रहा था झूठ बोलना अच्छा है अब तू ये कहता ये झूठे ये कौन सी बात तेरी सकती है तो ये झूठे जो लोग होते हैं इनकी बात बातें अब ध्यान दो अब चलो पतंजलि की ओर जाति देश काल समय अनुवाचिना सार्वभौम महाव्रतम सार्वत्र सर्वत्र भूगोल में भूमि पर जाति देश काल समय अनुवाचिना सार्वभौम महाव्रतम ये अहिंसा सत्य आदि व्रत सार्वभौम है और सर्वत्र इसका का प्रयोग होना चाहिए तभी कोई व्यक्ति योगी बन सकता है और ये व्यक्ति ईश्वर को जानने वाला एक झूठ बोल रहे थे उनको तो, तो जान दिया कि मैं नहीं जानता तो यमों का भंग हो गया नहीं हो गया सीधा टकराव है उनसे तो ध्यान देना एक अंश विषय ये है कि जो व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकते अनर्थ करते हैं उनके सामने थोड़ा सा इसको सावधानी से बताना चाहिए क्या समझते आप हमको एक पता चल जाए उसे तो कैसे पता चले कई बार पता ही नहीं तो नहीं चलता व्यक्ति का और पता चलने को ये व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता तो वहां तो मौन रहना पड़ता परंतु पात्रों के सामने अच्छे लोगों के सामने बिना बताए भी बताना चाहिए बिना पूछे भी बताना चाहिए वो ये बताए कि मैंने ऐसा परिश्रम किया इतना महान पुरुषार्थ करने के पीछे मुझे यह उपलब्धि हुई है यदि वो ऐसा नहीं बताएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने ब्रह्म को जाना क्या उसको कठिनाइयां हुई उपलब्धि उसको क्या हुई हम लोगों को कैसे वो सिखा सकते ये प्रक्रिया सारी खत्म है फिर तो कुछ तो समझ में बात जो व्यक्ति उद्घोष करता है मैंने ब्रह्म को जाना है ऐसे जाना है ये बात आए हैं ये साधन है उससे तो बड़ा लाभ होगा और वो ये कहता अगर जानता हुआ थे तो झूठ हो गया और समाज को कोई लाभ नहीं है उसको वो तो कहता है मैं जानता ही नहीं एक और प्रमाण सुन लो इतिहास में या उपनिषद की कथा में या जीवन लक्ष्य की लंबी कथा ध्यान से सुनो कितनी स्पष्ट बात है राजा जनक महान विद्वान थे राजा जनक उन्होंने विद्वानों को बुलाया और उनका बुलाने का उद्देश्य स्पष्ट है वो ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं बहुत बुद्धिमान और विद्वान भी हैं जब इतने विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से पूछा गया हे विद्वानों आप में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ब्रह्म को जान लिया उनमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसे थे ने घोषणा की थी कि मैंने ब्रह्म को जान लिया से या केवल और इसी आधार पर उनको पुरस्कार मिला क्या एक हजार गौ सोने के सिंह जिनके मरे हुए थे वो उनको इसमें पुरस्कार रूप में सम्मान के रूप में दी ये लिखा है तो इसलिए ये सारे प्रमाण उपस्थित इसलिए किए जाते हैं कि ये भ्रांतियां कितनी बाधा डालती है कैसे रुकावट डालती है कोई सत्य हमको प्राप्त हो गया हम लेखबद्ध करते हैं हम उसको उपदेश के रूप में सुनाते हैं दूसरे को सिखाते हैं उसमें हानि क्या है यहां तो इसका विरोध करने के लिए हानि हुई हमने जो देखा जो लोग सीख सकते थे उनको भी नहीं सीखने दिया ये हानि होगी <laughs> जो लोग सीखने आते हैं ना उन लोगों को भी सीखने नहीं दिया लोगों ने ये हानि तो इसलिए ईश्वर को जानना और फिर उनको बताना यही वैदिक सिद्धांत है इसमें कोई दोष नहीं बल्कि गुण है आज विज्ञान कहां पहुंच गया है जो हमारी विचार करते हैं सब झंडोरा पिता हैं सब जगह प्रचार होता है कि याद बनता है हम क्या करते हैं सच्चाई उसको भी गलत उसको उसका भी ये थे ना जो ईसाइयों का एक याद आता है किसी ने कहा ये ढोल है उसकी क्या हालत की थी उन्होंने देख लो या तो ये देखा जा रहा हमने देखा जब हमने योग के वो उन्हें बताए तो लोग पीछे पड़े और दूर जोर लगाया प्रमाण की दृष्टि से वो चुप है पीछे से कोई खंडन करता नहीं करता रहे सामने आगे बोल के कोई सिद्ध नहीं कर सकता सामने आगे प्रमाण से कोई सिद्ध तो करे इस बात को ये झूठ है बिल्कुल नहीं वो वोट रोड को तो बोलते हैं एक व्यक्ति आकर के नाम तो लिया धर्म जिज्ञासु हूं और एक बोल लिया दो आए एक दूसरे से पढ़ा लिखा विद्वान कहलाता था एक सामान्य का जो तो मेरे पास में रहता था और वो दोनों आ गए थे मानसी जैसे स्वभाव से बोलते हैं हमें पता नहीं है सरकमट आया है आया इसलिए ताकि मैं खंडन करूंगा और वो जो मेरे साथ रहता था वो ये सिद्ध कर रहा था नहीं इनका अनुभव है ये है वो क्या नहीं देखो मैं सारी धज्जी उठा उसने बात करना आरंभ कर दिया मैंने फिर इसलिए सोचा ये दिशा नहीं होगा कोई वो तो पड़ा रहेगा विद्वान मुंह मूर्ख देता रहा देता रहा देता रहा कालांतर में सोचे तो कुछ और ही बात तो मैंने प्रमाण दिए वो चुप है मुंह बंद हो जाता प्रमाण देने के पड़ जाते तो ये मैंने देखा कि हम ऐसे ऐसे सिद्धांतों को दिमाग में रख लेते हैं वो आगे नहीं बढ़ने लेते और ये चर्चा कहां से उबारी जाती है केन उपनिष से उबारी जाती है कहां से केन से केन में गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है और उसमें ये प्रश्न उठाया जा रहा है ऐसे ऐसे बातचीत चलते चलते चलते चलते चलते चलते एक श्लोक आ गया उसका भाव सुनाता हूं जो व्यक्ति ये कहता है मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं वो नहीं जानता जो कहता है मैं अच्छी तरह नहीं जानता वो जानता <laughs> ये मैंने भाव सुना दिया इसका अभिप्राय क्या था ध्यान देना इसका अभिप्राय यह है अभिमान के और ब्रह्म के विषय में ये जो कहता है मैं ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानता हूं एडी से चोटी तक जानता हूं समझ लो ब्रह्म को और जो ये कहता मैं कुछ जानता हूं इसका मतलब है कि ये तक ब्रह्म को सारा तो ब्रह्म जाना नहीं जा सकता अनंत ज्ञान है अनंत बल है अनंत क्रियाएं हैं ये भक्ति का तो जानता उसका अभिप्राय तो इसमें था और वहां दोनों तो ही बातें आई प्रसंग उठाया है उनका उसमें यही सिद्ध किया है नहीं जाना जाता अपने मुझे भी ठीक नहीं और एडी से चोटी तक जाना जाता ये भी ठीक नहीं जाना जाता है ये सारा निकाला है और वहां से ये बात उठाई तो इस रात ये करते चले गए जो ग्रह जो मजदूर अगली पंक्तियां ऐसी करती ये नहीं और ये जी को प्रमाण दिए जितने सफल और महर्षि दान के प्रकरण प्रकरण में सब कुछ मिलेगा पर इनको ये कोई कह देंगे कि मैं जानता हूं तो फिर आग मिल जाए <laughs> कोई ये कह दे कि मैं जानता हूं तो फिर ये आग वहां भी लगेगी या केवल रखी के प्रकरण में और अला कितनी भयंकर थी बहुत से विद्वान थे वहां और एक का नाम था दग्ध साकल्य दग्ध साकल्य नाम का व्यक्ति था उसने इतने आक्रमण किए एक के ऊपर के दूसरा तीसरा चौथा यज्ञ में फिर उत्तर देते फिर आक्रमण करता है यज्ञ में लगे तो झूठा व्यक्ति है ब्रह्म का देवता बन के सारा दिन लेगा वो आक्रमण करता है यज्ञ लक्ष्य पर दस दस दाखिल में वो सब उत्तर देता फिर आक्रमण करता है फिर उत्तर देता फिर आक्रमण करता है अंत में उसकी नाक रगड़ी गई वो पिछली कर देता ये वहां भी वही रचना थी गाड़ी की दो तो बार आई आप तो गाड़ी निकल रही हो या घर की बन रही हो ना गाड़ी न बन कैसे घर की घर की बन गई एक बड़ी रोचक कथा करती है सुना बीच में थोड़े आपको आलस्य नहीं आएगा है तो वो सुना रहे थे वो सुनाया और से बनाई को दोनों तो बातें होता है जाए एक व्यक्ति से पूछा है तुझे मंत्र याद है ना प्रार्थना की बेटा मुझे खूब याद है अधिकार श्री याद है मुझे अच्छा हाँ सुनाओ सुनाया ओ हिरण्य घर भर आखिरी गदा आखिरी सुनाता हूं मुझे कहता हिरण्य कहते हैं सोने को और इसमें कहा गया कि हे परमात्मा हमारे घर को सोने के बदले अब भी जानता हूं तो घर वाली बनी गार की नहीं बनी आप तो गार की कितनी दूसरी थी ये बात जानने की है वो पहले प्रसन्न कर चुकी थी उनका उत्तर हो चुका था जब उन विद्वानों ने अपने अपने प्रश्न उठाए और उत्तर मिलेगा तो गांधी कहती है विद्वानों सुनो मां भी दो प्रश्न और करूंगी यदि ये विद्वान दोनों का उत्तर दे देता है तो निश्चित रूप से विवरण देता है तुम इसको हरा नहीं सकते नमस्ते करके चले जाओ उसने दो प्रश्न के पूछ लिए दोनों का उत्तर दे दिया गांधी कहती है विद्वानों सुनो ये बिल्कुल ठीक है विवरण देता है तुम इसको हरा नहीं सकते नमस्ते करके कि नहीं बड़ी विदुषी होगी जो ब्रह्मवेदता का निर्णय करती है ये ब्रह्मवेदता है वो गार्गी निर्णय करती है तो इसलिए ये कथाएं आती है और ये विपराध के प्रसंग में एक बात हो रहा है एक विद्वान ने प्रश्न पूछा विपराध के हाँ तो उसने पूछा क्यों सुरोले तो कला वाला पुरुष कौन सा है उस विद्वान से किसी ने पूछ लिया उसको पता नहीं था नहीं पता था तो कहने लेकर मुझे तो पता नहीं वही विद्वान से पिपराज से पूछता है महाराज जी अमुक व्यक्ति मुझे पूछने आया था और वो मुझे पूछना आया था कि सोलह कला वाला पुरुष कौन सा है और मैं जानता नहीं था और मैंने कहा कि मैं नहीं जानता और उसने देखा एक वाक्य बहुत बोला है कि मैं नहीं जानता था तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं बिना जाने हिंदी बोल देता झूठ तो क्या होता है वो वाक्य क्या है समूलो देश विनश्यति यह अमृतम अभिवदती समूल व्यक्ति वो नष्ट हो जाता है जो अमृत बोलता है इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जानता उसको इसको आप बताओ इतनी निष्ठा थी ऋषियों की और उसको ये कहे वो बिना देवता बन के कह दे शिष्यों को हम नहीं जानते बेकार की घर बाकी ऋषि परंपरा के रूप की मान्यता तो हमें बिना गाने कहें तो दोष और उसको इस रूप में कहें मैंने उसको इसके सारे गुणों को जान लिया इतने लंबे जोड़े हैं वो भी ठीक नहीं है मैं जान के कहे मैं जानता हूं वो भी ठीक नहीं है और जान के कहे मैं जानता हूं तो कोई दोष नहीं बहुत अच्छी चीज है हमको जानना चाहिए और उनको जनाना चाहिए अब समय सोने का आ रहा है और आपको इन बातों में से बहुत सी बातें याद रहनी चाहिए समय समय तक काम आएंगी अध्ययन में भी काम आएंगी और करने में भी काम आएंगी आक्षेपों का उत्तर देने में भी काम आएंगी और एक एक दो दो बात सिद्धांत की यदि ठीक दिमाग में बैठ गई तो बीसवें समस्याओं का समाधान हो जाता है यदि एक सिद्धांत की बात गलत होगी तो बीसवें बात उल्टी हो जाएगी एक व्यक्ति ये मन में बैठा ले ये ब्रह्म तो जानने की चीज नहीं है ये तो केवल उपदेश की बात है जाना तो जाता ही नहीं क्योंकि नेति नेति क्या सुना आपने एक वृद्धा माता आई ब्रह्म की चर्चा चल रही गाजियाबाद आश्रम और वो बैठी बैठी सुन रही सिर्फ जानती वान की कोई खास नहीं थी यूं ही कहीं सत्र होगी वो कहते महाराज जी आप क्यों ब्रह्म के विषय में बात कर रहे हो ब्रह्म की जहां तक जाना नहीं और ना जान सकेगा क्योंकि नेति नेति कभी भेद भी कर दे <laughs> आपने इतनी प्रसिद्धि बता दी उसकी वो बूढ़िया कैसी है आज क्या ब्रह्म के लिए हमारे बात करते ना और जाना गया न जाना जाएगा क्योंकि नेति ने कभी भेद भी कर दे नहीं नहीं नहीं जाना जाता नहीं जाना जाता <laughs> अब नेति नेति के प्रकरण को वो जानती नहीं उसकी व्याख्या का पता नहीं नेति नेति कहाँ आया है क्यों आया है जो दिया वहां पर नेति नेति नेति की नहीं जाना जाता नहीं जाना ये अर्थ है और दूसरी ओर चलोगे ना वो क्या कह रहे वो ये कहते भाइयों सुनो जाने हमारा कुछ नहीं जाता हम अपने को भूल गए मैं मैं ब्रह्म हमें ब्रह्म जानने वाला है है क्या मैं ही ब्रह्म हूं अपने को मैं भूल गया हूं जानना वाना है ही कुछ नहीं अब ये गलती मेरे साथ ये काम समाज के काम के नहीं अपने काम के नहीं राष्ट्र के काम के नहीं विश्व के काम के नहीं सुधार के काम के नहीं कुछ भी तो नहीं इन्होंने ब्रह्म को न समझने के लिए कहना प्रारंभ कर दिया मैं ही ब्रह्म हूं अपने को भूल गया हूं क्यों भूल गए अज्ञानता के कारण अच्छा ये श्रद्धा पर ब्रह्म अज्ञानता कहां गया अभी है लेकिन माया थी वो माया जुड़ी और <laughs> उससे अज्ञान पैदा हुआ तो देखो ये विषय जानने चाहिए बुद्धिपूर्वक दर्शन के आधार पर वेदों के आधार पर और चाहे वो भौतिक वैज्ञानिक हो चाहे कोई संप्रदाय वाला हो उसको उत्तर देना चाहिए अपनी ईश्वर की सिद्धि और गलत का खंडन अच्छी तरह आना चाहिए व्यक्ति को और परिश्रम करोगे तो काम हो जाएगा अगर अच्छा, ये बताओ आप ये समझते हो डॉक्टर को जान लेंगे बताओ क्या समझते जान लो क्या फिर उनको है हाँ जी अच्छा इस जन्म में जानोगे आप लेंगे अच्छा ये नहीं देखते कि इसी में जान लेंगे अब आपका निर्णय है कोई खास कि भाई इसी में जान लेंगे असल में बात यह है उचित परिश्रम करोगे तो इसी में जान लोगे और कमरे गया तो अगले में जान लोगे इतनी बात याद रखो हाँ ये निराशावादी जीवन जीने का ये जो कहते हैं ब्रह्म को जानो और चार लोग कहते हैं एक जन्म में नहीं जाना जाता है कहीं लगेंगे अगले दिन में फिर आ गया वही होगी ठीक है ब्रह्म को जाने के एक जन्म में नहीं जाना जाता इसमें एक जन्म होते बीस जन्म मत यही कहता कहता एक एक जन्म में नहीं जाना जाता एक जन्म में नहीं जाना जाता इसका यार अर्थ एक जन्म नहीं जाना ये बात तो ठीक है इतनी योग्यता एक जन्म नहीं होती पर ये एक जन्म क्यों है ये पहले भी मूल जन्म होगा उससे पहले भी होगा उससे पहले एक जन्म कैसे हुआ अरे इसको कहता एक जन्म नहीं जाना जाता ये क्या करता है अपनी शक्ति सामर्थ्य को खो बैठता है हमें ये कोई बात नहीं सोचते कि अपने किस मत जाना जाएगा नहीं जाना जाएगा आगे जाना जाएगा हम तो ये कहते हैं जितनी शक्ति हो वो लगाना बस इसमें जाना जाए या अभिनंदन जाना जाए तीसरी बात सोचने की नहीं है चाहे इसमें जाना जाए और चाहे बस पूरी शक्ति लगा देनी है ये मान्यता ठीक है और ये सोचने लग जाए नहीं कि इसमें तो जाना ही जाता वो बेकार हो जाए कोई पर नहीं लगाता कोई शक्ति नहीं उसके पास तो ध्यान दो ये ब्रह्म का विषय इतना सूक्ष्म है इतना गंभीर है और इसको सुलझाना भी बहुत कठिन है पर असंभव बिल्कुल नहीं सारा भौतिक विज्ञान जितना जगत है वो बेचारा इसके ऊपर कुछ सोच भी नहीं सकता कि ब्रह्म की कोई चीज हुआ करती है और वो आनंद से परिपूर्ण है ज्ञान से परिपूर्ण है वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं है जहां तक मैंने ध्यान किया मेरे ध्यान के अनुसार कोई वैज्ञानिक वोट में हो और मेरे सामने नहीं आया उसकी बात मैं नहीं करता मधुरी के विचार को समझ पाया ईश्वर सच्चिदानंद है आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है बल स्वरूप है ऐसा है कोई पदार्थ ऐसा ही मानने के लिए तैयार नहीं यदि हम प्रयास करें हम पुरुषार्थ करें हम से अनेक व्यक्ति ब्रह्म रेखा बन के खड़े हो जाए तो हो सकता है कि वैज्ञानिकों को हम अपनी बात को समझाने में समर्थ हो पर ये थोड़े से परिश्रम से साध्य नहीं है जीवन की आहूतियां दी जाएंगी ये ऐसी स्थिति है कि मर के जन्म लेना बताओ किसी ने प्यार क्यों प्रधान जी नींद आने लग गई अब मर के जन्म लेना बताओ कौन मरना चाहते हैं गरीब के नहीं मरना जन्म भी लेना है साथ साथ मर के जन्म लेना है हाँ ठीक है अब मैं और मेरा नाम और रूप ये सब समाप्त हो जाते हैं जब ब्रह्म का ज्ञान होता हम्म? मैं और मेरे को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता नाम और रूप को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता और वो ब्रह्म की बात करे तो इससे टेढ़ा पार नहीं इसके लिए तो जीवन को बस स्वाहा कर दिया जाता है मां के पेट से होता है एक जन्म और फिर गुरु जी पढ़ाते हैं तो द्विग दो जन्म और ब्रह्म विद्या का तीसरा जन्म तीसरे जन्म की बात है ये आपने प्राप्त करनी हो तो और बूढ़ों की बात छोड़ो युवक तो आ रहे ना तो युवक है आप मुझे वो तो कर सकते हैं उनमें क्या करना ये क्यों नहीं युवक बताओ ठीक है और ये कहेंगे कि लोग पचहत्तर वर्ष की बात है पचहत्तर वर्ष के पीछे होता है अरे पचहत्तर वाले की हालत तो देख रहे हो ये बूढ़े बैठे कान से सुने नहीं आंख से दिखाई नहीं दे पचहत्तर वाले को सोच रहे फिर क्या होता है युवक व्यक्ति तो कुछ कर सकता है बूढ़ा व्यक्ति तो कम कर सकता पर ये बात नहीं निराशावादी नहीं बूढ़ा भी करता है पर इतना नहीं कर सकता जितना युवक व्यक्ति कर सकता है इतना बूढ़ा नहीं कर सकता हमको तो, तो अच्छा रहा भगवान ने बचा लिया अपनी <laughs> भगवान की दीपुटी से बच गए बूढ़े नहीं हुए हम तो, आपकी तरह बूढ़े मतलब घर में जाइए बूढ़े नहीं <laughs> आगे भी मेरी सोच है भगवान हमको आपकी तरह बूढ़ा नहीं बनाएगा जैसा बूढ़ा गृह समझ जाके बूढ़ा होना और भगवान को नहीं जानना ऐसा ऐसा कभी नहीं बनाए भगवान आपको अरे एक बात और गृह समझ जाया ही नहीं जाए तो कितना अच्छा है <laughs> ये सबसे अच्छा है जब जब जन्म हो तभी से वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बन जाए फिर जन्म हो तो भी हो फिर ब्रह्मचर्य तरीके बन जाए बस ऐसे तो ठीक है पर ये गृहस्थ तो में जाना अरे कच्चे बच्चे पैदा करना गीता फैल जाए कंधे पर एक उंगली पकड़ रही है एक चल रहा है वो जा रहे हैं घूमते हुए और गीता फैल जाती है ये जीवन तो कोई अच्छा नहीं वैसे देखो गृहस्थी को तो बुरा तो मान लेंगे मेरी बात की है क्यों जी बुरा तो मान लेंगे अच्छा एक लेखक ने ये लिखा है भाइयों मुक्ति के लिए घरबार कुटुंब छोड़ने की आवश्यकता नहीं कोई तो गृह की तो गुप्पा हो गई भूल की भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ये कमलेश कुमार जी लिखा गृह छोड़ने की कुटुंब को छोड़ने की मुक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं जो पढ़े रहो और सोकर मरवाते रहो बच्चों से <laughs> ये मुक्ति हुई चले जाओगे इतना अच्छा उपदेश व्यक्ति है दान दक्षिणा अच्छी चीज मिलेगी इधर को योग करके चले जाओ हाँ आपकी दान दक्षिणा दो बहुत अच्छी बात है देखो माता ने किसी हजार रुपये दिए पर जो बात जैसी होगी वैसे ही कहेंगे ठीक है ओ शांति कुछ बातें जो व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र महान बनना चाहे वह एकाग्रता से एकांत मान पर बैठकर आत्मनिरीक्षण करें अपने जीवन की बुराइयों को दोषों को पकड़ें जाने उनसे होने वाली हानि को समझें उनको दूर दूर करने की मन में प्रतिज्ञा करते चलें दूर करने के जो साधन हैं उनको प्राप्त करें और फिर उन दोषों को दूर करें संघर्ष करें तपस्या करे युद्ध करे तो व्यक्ति शीघ्र ही महान बन जाता है ये दोष होते क्यों हैं बुराइयां क्यों होती हैं इसका कारण कौन इस विषय पर कुछ विचार करते हैं हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं दोष हैं त्रुटियां हैं भूले हैं प्रमाद नैतिकता यम निम्न से वृद्ध जो आचरण है उसका कारण कौन है सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं दोष हैं पाप कर्म है उसका कारण है नास्तिकता ईश्वर को ठीक नहीं मानना नहीं जानना न उसकी उपासना करना न उसकी आज्ञाओं का पालन करना ये सबसे बड़ा कारण है और सारे कारण गौण है मुख्य कारण ये है ईश्वर के अभाव में ईश्वर की अनुपस्थिति में ही सारे कुकर्म होते हैं अंधेरे में हमारा जो मध्यस्तर के व्यक्ति हैं बहुत बड़े बुरे कर्म नहीं करते हैं फिर भी जो बुरे कर्म कर देते हैं बुराइयां कर देते हैं उसमें मन में एक अज्ञान बैठा हुआ है मुझे कोई देख नहीं रहा है मुझे कोई जान नहीं रहा है मेरे इस बुराई के कर्म को कोई देख करके मेरा दंड नहीं मिलेगा दुख नहीं होगा मेरे अर्थात सर्वज्ञ सर्वजापक ईश्वर को हम भूले रहते हैं ये बड़ा कारण है अथवा ईश्वर को गलत रूप में मानते हैं जैसे आपको पीछे बता दें सबसे बड़ा कारण यह नास्तिकता आज समाज में राष्ट्र में गांव में नगर में गली में परिवार में और व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो बुराई आई है उसका मूल कारण नास्तिकता है यदि व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर यह बैठ जाए एक सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी सर्वशक्तिमान मेरे जीवन का अर्थात कर्मफलदाता परम पिता परमात्मा मुझे हर समय देख रहा है बस इतना ज्ञान ही मस्तिष्क में बनाए रखना पर्याप्त पापों को पापों से दूर करने सबसे बड़ा कारण दूसरा कारण क्या है दूसरा काम है धार्मिक न्यायकारी वीर निर्भीक राजा उसका काम जिस नगर में जिस ग्राम में जिस प्रांत में जिस देश के अंदर धार्मिक राजा नहीं होता इसके हाथ में काला डंडा कि प्रत्येक दुष्टाचारी को पकड़ करके और पिटाई करेंगे मनुस्मृति में लिखते हैं उसके अनुसार तब मानव समाज में दोष लिखे मनुस्मृति के श्लोकों को हम पढ़ें सुने और उसके अनुसार राजा आज के आचरण करें एक दिन के अंदर बहुत बड़े पाप की और बहुत बड़े पाप का भाग नष्ट हो सकता है शराब हो व्यविचार हो चोरी हो डाका हो अन्याय हो पक्षपात हो किसी प्रकार की बात हो एक दिन में बंद हो सकती है बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु में तो कभी हुई नहीं है ना होगी लेकिन आज जो नगर नगर में गांव गांव में गली गली में घर घर में जो अनैतिकता के प्रसंग हमें दिखाई देते हैं कितनी घिनौनी घटनाएं घटी अपने आप को सभ्य और उन्नत समाज के कहने वालों के आड़ के मानव समाज के अंदर इनको पढ़ करके शर्म आती है किसी को बताते हुए शर्म आती है ऐसी घटनाएं घट रही इसका काम राजा है मनुस्मृति लिखा अभिमान में आकर के अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ में दुराचार करता विचार करता उसको पकड़ लेती उसको नंगा करो और लोहे के जलते हुए लाल फलंग के उसको सुला करके बिटा कर और अकेले में नहीं हजारों बच्चियों को इकट्ठा करके उसके सामने जलाओ यह बेचारे एक दिन में बंद होता अधिकांश इसी प्रकार स्थिति के विषय में जो रूप आदि के विमान में आकर के और ये अनैतिक दुराचार करती है उसको भी इसी प्रकार नंगा करके कुत्तों से करता है एक दिन में बंद हो सकता है लेकिन यहां तो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वेशशाला में मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ पता नहीं कहां तक है मैंने सुनी बात कि कलकत्ता और दिल्ली और कई अनेक स्थानों के अंदर वेश्याओं को सर्टिफिकेट दिए हैं शरीर को बेचने का इस प्रकार का वेश्या वृत्ति का चकवा चलाने का आश्चर्य बात सरकार ही मांस शराब अश्लीलता जुआ के विचार उल्टे उल्टे सारे आज हमारे समाज में जो परिवार में अनैतिकता का वातावरण हो गया इसमें राजा भी कहा परिवार निगम के नाम से तो घर घर को जलचारी बना के खड़ा कर दिया लॉटरी के नाम से लगभग सभी को जीवारी बना के खड़ा कर दिया अभी पिक्चरों के माध्यम से सेंसर लगे गए फिर भी अश्लील वातावरण इतना कठोर हो गया है कल्पना मुश्किल तो राजा बड़ा कारण है सुनते हैं अखबारों में हमें तो पूरा पता नहीं ईश्वर जानता है या वो लोग जानते हैं करोड़ों की घुस ले लेते हैं पता ही चलता है गुजराती में कहते हैं अखबारों में पढ़ते हैं कि पेट का पानी भी नहीं चलता इतनी बड़ी बदल कर जाते हैं करोड़ों रुपये का गबन करते हैं लोग घुसे नहीं जाती हैं हम भर भर करके कुछ प्रभाव नहीं पड़ता सारे भ्रष्ट अब ऐसे राजा क्या करेंगे क्या डंडा चलाएंगे जो स्वयं भयंकर नास्तिक होगी पापी और क्या कहें हमारी जबान भी खराब होगी ज्यादा कहें तो राजा के अच्छा होने से हमारे समाज के प्रजा के दोष कम होते फिर आता है समाज समाज की संरचना भी ऐसी पहले हम सुनते थे नगरों में गांव में जो व्यक्ति सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करता था उसको जाति से अपने समाज से धार कर दिया जाता था निकालो इसको एक्सटेंशन बुरा बुरा कार्य किया खास तो गलियों के अंदर समाज के अंदर बिल्कुल नंगा नाश होता है समाज में रहने वाले सौ सभ्य परिवार देख रहे हैं और दो दुष्ट व्यक्ति आकर के कुछ का कुछ बोलते हैं कुछ का कुछ करते हैं कुछ का कार्य करते हैं उनको कोई कहने वाला नहीं टोकने वाला नहीं ये स्थिति समाज नाम की कोई चीज नहीं पड़ोस के अंदर जुआ खेला जा रहा है शराब पी जा रही है व्यभिचार किया जा रहा है उसके कहते हैं तो फिर आप तो क्या है स्वतंत्र हूं समाज तो वो है नहीं और जहां समाज के अंदर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति हो आज भी होता है कहीं कहीं गांव के अंदर गलत भी होता है अच्छा भी होता है जो कोई दुरा दुराचार करे दुष्कर्म करे तो पकड़ करके हमने रखना ही देखी होंगे आपने देखी अखबार में पढ़ने भी आते हैं मैंने ये घटना देखी गाजिया गाजियाबाद कॉलेज के सामने लड़का आता था लड़की को छेड़ता था उसके बाप को पता लगा पुलिस में था उसने लड़की के नाज आ रहा हूं कौन सा लड़का मेरे को बता पकड़ लिया लड़के वहीं पिटाई थी उसकी में मेरे सामने और उसको गधा मंगवाया गधा मंगा के उसके ऊपर बैठाया काला में कर दिया जूते पहना दिए और तख्ती लगा ली आधे से मैं लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा आपसे क्या स्थिति हम कहते हैं तैमूर लंग हुआ था नादिर शाह हुआ था खिलजी हुआ था आप सब तो घर घर में गली गली के अंदर ही पैदा हुए ऐसी स्थिति बन गई तो समाज में जो व्यवस्था होती है सामाजिक व्यवस्था तो पाप कर्म कम होते हैं बुराइयां कम होती है दोष कम होते है अरे समाज नहीं रहा तो स्थिति बन जाएगी गुरु आचार्य की बात आती है शिक्षण संस्थाओं में गुरु आचार्य अध्यापक प्रोफेसर लेक्चरर इस कोटि में आते हैं वो तो चरित्रवान होते हैं सादे होते हैं तपस्वी होते हैं वैराग्यवान होते हैं तो समाज के अंदर नई पीढ़ी में ऐसी व्यक्ति के अंदर पाप की प्रतियां कम होती हैं जो श्रम लंपट है गुटबंदी है जातिवाद है शराबी है कबाबी है पता नहीं क्या दोष है आप भी जानते होंगे आप स्वयं पढ़े होंगे या आप लड़के पढ़ते होंगे हम तो पढ़े हैं तो बीस वर्ष बुराइयां बहुत बुराइयां थी आज तो में क्या हो गया कॉलेजेस के अंदर स्कूल्स में क्या होता है वर्णन नहीं करता हॉस्टल्स में क्या होता है वर्णन नहीं करता और अध्यापकों को लेक्चरर्स प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं कोई कंट्रोल नहीं करता तो इस तरह से उनको मार स्वयं चरित्रवान नहीं तो दूसरों को क्या निर्माण करें स्वयं का जीवन जलता हुआ नहीं बुझा हुआ दुर्गम देवता है दूसरे का निर्माण नहीं कर सकते तीसरी बात आगे से माता पिता की बात जिसके माता पिता चरित्रवान धार्मिक परोपकारी संयमी तपस्वी त्यागी अच्छी दिनचर्या है अच्छे विचार है अच्छा व्यवहार है उनकी संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है ये हो नहीं सकता आपकी संतान बिगड़ रही है ठीक है बाह्य कारण है लेकिन माता पिता मुख्य कारण है तो स्वयं माता पिता भोग विलास में रंगे हुए हैं आलसी प्रमादी हैं उनकी स्वयं जी कुप्रवृत्तियां हैं आना पिता में घर की हुई है तो संतान को क्या क्या सकती है किस मुंह से कहेगी स्वयं किचन में लगभग है हिम्मत नहीं उनको हाथ जोड़ के खड़े रहते क्यों स्वयं का वो जीवन में प्रकाश नहीं उठने का नहीं खाने का नहीं स्वयं उल्टे काम करते हैं बच्चों के सामने क्या कहेंगे बच्चों का निर्माण क्या करेंगे क्योंकि सामने बच्चे बिगड़ जाते हैं आप जानते हैं उसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इसके पश्चात फिर नंबर आता है स्वयं मित्र मित्र साथियों का भी आता है समाज के परिजनों का भी आता है सन्यासियों के भी आता है विद्वानों का भी आता है जिस देश में समाज में धर्म के प्रचार को असर भी गिर जाता है उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती आप देख लीजिए भारतवर्ष में लाखों मंदिर थे लाखों की संख्या में सन्यासी उपदेशक हैं कम से कम यम नियम के तो विरुद्ध कोई नहीं चर्चा करता होगा मोटे स्त्री रूप में लेकिन कितना भंग होता है देखिए आप कोई प्रभाव नहीं होता अब आता है मुख्य बात व्यक्ति की स्वयं चाहे राजा खराब हो चाहे समाज खराब हो चाहे माता पिता खराब हो चाहे गुरु आचार्य खराब हो चाहे उपदेशक सन्यासी खराब हो लेकिन व्यक्ति स्वयं निर्णय कर लेता है कि मुझे अपने जीवन को महान बनाना है तो व्यक्ति महान बना लेता है इन बातों का प्रभाव पड़ता है लेकिन स्वयं के जीवन के निर्माण की निष्ठा बन जाती है कि मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है मुझे आदर्श जीवन को की उत्पत्ति मेरे को करनी मैं महान मुझे महान बनना मुझे आप्त पुरुष बनना मुझे सत्य वक्ता बनना मुझे विद्वान बनना ऋषि कोटि को मुझे प्राप्त करना इस संसार की ओर मैं नहीं देखूंगा तो वो व्यक्ति महान बन जाता है लेकिन इसकी तपस्या करनी पड़ती घोर तपस्या करनी पड़ती है स्वामी महाराज बताते हैं मृत्यु को हाथ में लेकर चलना पड़ता है तब ये कार्य होता है स्वयं का बहुत अधिक महत्व है ये कारण मैंने आपको बताया ईश्वर राजा समाज माता पिता गुरु आचार्य मित्र साथी सन्यासी तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां आर्थिक परिस्थितियां सारी मिला दी और स्वयं स्वयं का सबसे अधिक महत्व है सारी प्रतिकूलताओं को पार करके ठोकर करके व्यक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से आगे बढ़ बढ़ जाता करने वाला होना चाहिए मानो संकल्प करने वाला होना चाहिए मैं आदर्श व्यक्ति बनूंगा मुझे कोई रोक नहीं सकता ऐसी भावना लेकर के चलने वाला व्यक्ति कार्य कर सकता है हम संकल्प लेकर चले कि हम महान बनेंगे हम अपनी सारी बुराइयों को देख करके उनको नष्ट कर देंगे जितनी जीवन में बुराइयां हैं उसको बनाने वाले हम हैं उसकी वृद्धि हमने की है उसकी रक्षा भी हम कर रहे हैं उसको प्रयोग में भी हम ला रहे हैं इसके विपरीत इसको दबाने वाले भी हम इसको क्षीण करने वाले भी हम इसको नष्ट करने वाले भी हम जब संकल्प कर लें कि मेरे जीवन के अंदर यह बुराई आपसे नहीं रहेगी संकल्प से चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे कालांतर में उस बुराई को समाप्त कर देता है हमने प्रयोग करके देखा है आप भी प्रयोग करके देखिए किसी के जीवन में क्रोध बहुत अधिक खूब भी होता है वो तो संकल्प से चलता है मुझे क्रोध नहीं करना है और तैयार रहता है व्यक्ति इस कार्य में क्रोध उत्पन्न होगा उसे कले दबा देता है प्रयास करते करते कालांतर में दूर हो जाता है इसके सिर्फ और कोई साधन नहीं है संकल्प बहुत बड़ी चीज है प्रतिज्ञा बहुत बड़ी चीज है लिखा पुस्तकों में बहुत उपदेश को बोलते लेकिन संकल्प महत्वपूर्ण चीज है हम अपने दोषों को देखें उनकी हानियों को समझें वो हमारे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है जीवन को सुख शांति आमृत बनाए बनाए रखने में बाधक है हम इस दोषों को दूर करें दोषों को दूर करें ऐसा संकल्प करके हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में शीघ्र ही उन्नति की प्राप्ति होगी उन्नति होगी